स्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरम लोक शंकरम भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत रहस्य इसमें शिष्य को जो है कैसे अपने स्वरूप का बोध कराना है क्योंकि हम तो मिला दिया कई चीज यहाँ पे विद्यमान है स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर फिर अज्ञान और सूक्ष्म शरीर में भी कई अवय बैठा हुआ है पांच ज्ञानेन्द्रियों पांच कर्मेंद्रियों पांच प्राण और फिर मन बुद्धि चित्त का इतने व्यक्तियों के भीड़ में आत्मा क्या वस्तु है यही बोलते हैं जिसके रहने के कारण ये शरीर इंद्र मन बुद्धि व्यवहार कर पाते हैं और जिसको नहीं रहने से आत्मा को तो नहीं रहना कोई प्रश्न ही नहीं होता आत्मा तो हमेशा ही रहता है इसके इसके व्यतिरिक्त तो कभी होता ही नहीं है परंतु आत्मा की अभिव्यक्ति के लिए जो करण है वो करण कभी कभी शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर पकड़ने जाता है कर्म अनुसार उस समय ऐसा लगता है कि शायद आत्मा छोड़ के चला गया अथवा कहीं गया ऐसी बात है शुद्ध आत्मा का कहीं आवागमन नहीं है और प्रतिफलित आत्मा मतलब अंतकरण प्रतिफलित अथवा मतलब अंतकरण उपहित जो चेतन है वो चेतन जो है अंतकरण की जब सूक्ष्म शरीर आवागमन करते हैं तो प्रतीति होते है कि वो कहीं जा रहा है परंतु वास्तविक ऐसा नहीं है कल यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिए थे ये आत्मा ज्ञान स्वरूप है दो प्रकार के ज्ञान होता है मतलब दो प्रकार की दृष्टि से आप समझ पाएंगे एक होता है जो अनित्य दृष्टि जो हम आंख के द्वारा एक अंतकरण की मन की एक वृत्ति जो अंतकरण के द्वारा बाहर जाकर के कोई वस्तु को प्रकाश करके फिर अंदर आकर के निर्णय करते हैं कि वस्तु कैसा है इसको हम दृष्टि बोलते हैं इसको हम दृष्टि बोलते हैं तो यहाँ पे दो दृष्टि है एक दृष्टि है जो विषय के सापेक्ष में प्रकाशित होता है आंख की दृष्टि जो विषय के सापेक्ष में विषय को अभिव्यक्त करने से मेरी आंख दिख रहा है दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है इस प्रकार से विषय प्रकाश करने से समझ में आता है और एक दृष्टि है नित्य दृष्टि वो दृष्टि क्या है वो कभी नाश नहीं होता मतलब आंख की अंतकरण की मन की सोचेंद्र ज्ञानेन्द्र कर समस्त कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्र के जो भी कोई वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो समझने वाला जो दृष्टि है ना वो दृष्टि का भी परिवर्तन नहीं होता तो हमेशा प्रकाश स्वरूप और कूटस्थ नित्य दृष्टि है उसको देखने पर भी जैसे हम देखने का कारण जो है कुछ भी क्रिया होते हैं मन में परंतु ये कुटस्थ नित्य दृष्टि है ये जो है ये कभी नाश नहीं होता कहीं व्यभिचन नहीं करता कहीं परिवर्तन नहीं होता हमेशा एक प्रकार रहते हैं हमें जो बाहरी वस्तु की ज्ञान होती है मतलब जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान होता है वो हमसे भिन्न वस्तु का ज्ञान होता है जो भी कुछ ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है हमसे भिन्न वस्तु का है और इसलिए इंद्रियों जो है हमको जान नहीं पाता क्योंकि मैं रहने के कारण ही शरीर इंद्रिय व्यवहार कर पाता देखिए प्रमाया नित्यत्व अनित्यत्व रूप विशेष अभाव तो बोला एक ज्ञान है नित्य ज्ञान और एक है अनित्य ज्ञान जो इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होता है इंद्रिय और अंतकरण के माध्यम से उत्पन्न होता है जो ज्ञान वो ज्ञान जो है अनित्य ज्ञान है और एक नित्य ज्ञान स्वरूप है जिस ज्ञान की प्रकाश से इंद्रियों को प्रकाश कर पाता है ये जो ज्ञान जो है इसलिए इसे इधर समझ में आएगा कि बोध क्या वस्तु है अवगति जी अवगति ही प्रमा मतलब जिस प्रकार की भूत अमर उत्पन्न होता है उसी को प्रमा बोलते हैं तो स्मृति इच्छा इच्छादि पूर्विकाया अनित आया कुटस्थ नित्य आया वो स्मृति इच्छा पूर्वक एक अनित दृष्टि है अथवा अनित बोध है और एक है कुटस्थ नित्य बोध स्वरूप भूत होकर के बैठा हुआ है जिसके रहने के कारण इंद्रियों क्या जाना क्या है नहीं जाना इसको हम समझ पाते तथा धातु अर्थ सृजित परंतु क्या होता है कि धातु के अर्थ तो क्रिया में ही होता है क्रिया का बोधक होता है मतलब कोई भी धातु के अर्थ मतलब कोई क्रिया का बोधक होता है स्था धातु है इस स्थिर रहने के अर्थ में आता है परंतु देखिए कोई मनुष्य स्थिर है और हिमालय भी स्थिर है तो हम दोनों जगह पे कि मनुष्य और पर्वत हाँ तिष्ठन्ति परंतु पर्वत कहीं गति करके फिर जो है स्थिर ऐसे बात तो नित्य स्थिर है और परंतु मनुष्य जो क्या कहीं चल के आकर के कहीं बैठता है तो मनुष्य थोड़ा बैठा हो ऐसा करके बोलते हैं परंतु स्था में कोई भिन्नता नहीं स्थिर रहने में स्था धातु अर्थ कोई भिन्नता नहीं किसी प्रकार क्या धातु मतलब माँ प्रो सर्व लगने पर प्रमाता वो यहाँ से हम समझ सकते हैं जैसे कोई व्यक्ति चल करके आकर कहीं पे बैठते हैं तो हम पूरा स्थिर होकर के बैठा हुआ तो स्थिरता क्या वस्तु है जो हम हिमालय सत्र यहाँ से देखते हैं इसी प्रकार से ये व्यवहारिक वस्तु की ज्ञान से अनित ज्ञान से ज्ञान क्या वस्तु होता है हमको समझ में फिर जो एक स्थिर ज्ञान है सूर्य की प्रकाश वो नित्य प्रकाश स्वरूप है वो अनित प्रकाश की तरह जैसे दिया की प्रकाश बल्ब की प्रकाश ऐसा प्रकाश नहीं है वो तो प्रकाश क्या वस्तु होता है यहाँ सम समझ करके और सूर्य के वहां भी बोलते हैं सूर्य प्रकाश है तो इस प्रकार से तो कोई प्रकाश एक प्रकाश क्रियात्मक कोई प्रकाश नहीं है इसी प्रकार आत्मा में जो प्रमा है वो जो है कि प्रमाण के द्वारा प्रमेय वस्तु की जो बोध प्रमाता में जो बोध उत्पन्न होता है उसको प्रमित प्रमा बोलते हैं परंतु वो जो अंदर आत्मा बोध स्वरूप आत्मा है उसी का एक अभिव्यक्ति है वहां पे इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त परंतु है तो वो एक ज्ञान बोध इसी प्रकार आत्मा बोध स्वरूप है अपने को हम इसी प्रकार से जान सकते हैं और वो चेतन है क्योंकि बोध चेतन तत्व में होता है इसलिए कि जिस प्रकार मनुष्य बैठे हुए हैं अथवा बाहर स्थिर है इस प्रकार की वाक्य में कोई स्था धातु की क्रिया को समझने में कोई भिन्न तो एक स्थिरता को ही बोध कराएगा ठीक उसी प्रकार नित्य अवगति रूपे प्रमाता प्रमाता जो नित्य बोध स्वरूप है उसमें प्रमातृत्व व्यापोदेश प्रमात मतलब ये वो जान रहा है वहां पे जानना रूपी क्रिया नहीं है परंतु तो फिर भी ऐसा बोलते हैं मैं जानता हूँ मैं सुनता हूँ मैं ये जो बोला जाता है वो औपचारिक प्रयोग करते हैं वास्तविक वहां पे तो अनित्य ज्ञान हो चाहे नित्य ज्ञान हो ज्ञान क्या वस्तु हो तो उसको समझाने के लिए वहां पे ऐसा प्रयोग किया जाता है अब जैसे शिष्य बोल रहे हैं आज यहाँ कैसे शुरू होगा कि अनित्य अवगत स्वरूप आत्मनो अभिक्रिय पढ़ लेते कि ये बचा हुआ है हाँ ये भी हो गया था तो जो अनित वो यदि अभिकारी है तो वो क्रिया करने के लिए जैसे कोई व्यक्ति कोई मतलब कार्पेंटर हो वो अपना औजार हथियार को पकड़ने के लिए काम करने के लिए वहां पे विक्रिया होती है तो ऐसा ही आत्मा के लिए जो उगणित ज्ञान स्वरूप है वो अपने औजार हथियार है उनका दर्शन इंद्रियो श्रवण इंद्रियो घरण इंद्रियो कर्म इंद्रियो ज्ञान जितने है इसका औजार है कौरण है ये ये औजार है तो जिस प्रकार पक्ष कोई तो मतलब कारपेंटर अपने औजार को पकड़ना और फिर उससे काम करने से उसके अंदर विक्रिया होती है इसी प्रकार आत्मा भी अपने औजार को पकड़े अपने आप होता तो नहीं आत्मा बड़ा कुटस्थ नित्य है तो पकड़ नहीं सकता वो काम भी नहीं कर सकता तो यहाँ पे कैसे कर्तित्व की बोध कैसे होते हैं तब बोलते हैं नित्य अवगत स्वरूप आत्मन विक्रिय कार्य करने असंगत तो कार्य करण असंगत है तो जैसे तक मतलब वसूला आदि औजार हाथिया जो कारपेंटर के होते हैं उससे कारपेंटर अलग होते हैं इसी प्रकार कार्यकरण से आत्मा अलग होता है तो वो जब अपने औजार हाथिया को ग्रहण करते हैं और उससे क्रिया करते हैं तो उसमें तक्षण कर्तित्व का बोध होता है मैंने ये काम किया उससे मिलेगा तो आत्मा भी यदि इस प्रकार औजार हथियार को पकड़ के काम करता है तो उसमें भी कर्तृत्व तो आएगा तब और आत्मा तो कुटस्थ नित्य है तो उसको कौन कराएगा ये काम वो तो कर नहीं सकता अपने आप तो पकड़ नहीं सकता पक्षादीनाम तो कार्य करने नित्यम एवं संगतत्तम उपादन है ना अनावस्था साथ क्योंकि वो कार्यकरण के साथ नित्य मिल जाता है वो मिल करके फिर जो है बादशादी से काम करते वहां पे तो अनावस्था दोष नहीं है यहाँ तो आत्मा तो सर्वदा संग है तो वहां पे यदि आत्मा को ये काम करना है कर्तित्व उपादान करणम उपादन करण को ग्रहण करेगा तद उपादान में विक्रिया हो तब तो उसमें विक्रिया होगा और वो कर्तित्व करणांतर उपादान उसको मतलब उसको वो ग्रहण कराने के लिए यदि उस अंगात का अवयव है दूसरा एक आत्मा को चाहिए यानी कि यदि आत्मा अविकारी है ग्रहण करने में समर्थ नहीं है तो क्या हो जाएगा तो उसके उसको ग्रहण कराने के लिए एक दूसरे को चाहिए तो इस प्रकार से यहाँ पे अनावस्था दोष अथवा आत्मा में कुछ कर्तित्व तो नहीं है मतलब हाँ ये सबको समझ में आया आत्मा कुछ करता नहीं है आत्मा कुछ करता नहीं है वो केवल विद्यमान रहता है तो केवल विद्यमान रहता है ना अन्न से सत सिद्ध अभिषेक नहीं आत्मा न अन्न अचेतनम वस्तु स्वप्न स्वप्न प्रमाणकम दृष्टम अचेतन वस्तु आत्मा से भिन्न करके कोई जो वस्तु दिखाई पड़ता चेतन तो नहीं सब अचेतन वस्तु है शब्द आदि सर्वम एवं अवगति फल अवसानम प्रत्यय प्रमित सिद्ध शब्द आदि जो भी वस्तु है वो बोध विफल मतलब इसमें इस शब्द को जाना इसका शब्द उसमें जाके वो पर्यवसित होता है परिणत होता है अवगति जब चेत आत्मन अन्न यदि इस प्रकार यदि बोध आत्मा से भिन्न किसी का होगा क्योंकि आत्मा असंगत हो तो असंगत होगा तो सार्थ शायद न परार्थ उसको असंग होने पर ही वो अपने लिए होगा यदि संघात्म होगा तो परार्थ के लिए दूसरे के लिए होगा न चेह इंद्रिय विषय नाम सार्था नाम अवगत तुम शक्न हो कि जो देह देह इंद्रिय विषय जो है वो अपने लिए नहीं होता वो दूसरे के लिए होता है वो ये पहले सिद्ध करके दिखा करके आया इसलिए देहस्य अवगत न कश्चित आदि प्रत्यंतर अपेक्षित लेकिन तो आत्मा के इस प्रकार बोध के लिए अन्न बोध के लिए इंद्रियों की अपेक्षा है परंतु आत्मा के स्वरूप के बोध के लिए कोई इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है बोलते देहस्य अवगत हुई शरीर को जानने के लिए भी प्रत्यक्ष आदि प्रंतर अपेक्षित न अपेक्षित शरीर को जानने के लिए भी कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की अपेक्षा नहीं होता जब ऐसा करते हैं क्योंकि हम तो अपने आप समझते हैं बाढ़ जागृत या जागृत काल में तो ऐसा होगा परंतु मृत अवस्था में सुषुप्त अवस्था में शरीर है कि नहीं किसके अपेक्षा सिद्ध होगा वो तो क्या होगा कि मृत सुषुप्त प्रत्यक्षाली प्रमाण अपेक्षा एवं सिद्धि तथेव इंद्रिया ना उसी प्रकार इंद्रिय भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो भी बाह्य एवं शब्दादे देह इंद्रिय आकार परिणत है जो शब्द शब्द स्पर्श उपर शब्द ये पांच विश्व है ये पांच भूत आकाश वायु अपनी जड़ पृथ्वी और देह इंद्रिय आकार में परिणत हुआ है और आरोप प्रत्यक्षाली प्रमाण का अपेक्षा से सिद्ध होता है इसलिए जो है सिद्धि प्रमाण फल प्रसिद्धि मतलब वो प्रमाण का फल मैं हूँ मैं जाना इसको अब सच अवगति कूटस्थ स्वयं सिद्ध आत्मगति ये जो बोध स्वरूप आत्मा है ना वो सब शरीर क्यों शरीर को हम समझ पाते हैं कि इस शरीर के पीछे एक जगह घोर अंधेरे में कोई उपकरण नहीं है हमारे पास आंख नहीं देख रहे हैं कान नहीं सुन रहे फिर भी मैं अपने अस्तित्व को समझ पाता हूँ शरीर का अस्तित्व के साथ मिलाकर ही समझता हूँ अपने को ये जो है अस्तित्व कूटस्थ अस्तित्व है यही है हमारा यथार्थ स्वरूप अब आगे बोल रहे हैं अत्राह चौदह का इस विषय में फिर शंका करने वाले अवगति प्रमाणानाम फलम देखो जो भी कोई बोध होता है ना वो प्रमाण का ही फल होता है प्रमाण के द्वारा जब कोई वस्तु को हम जानते हैं तो हमें बोध उत्पन्न होता है क्योंकि यहाँ पे पांच हम शब्द दर्शन इंद्रियो श्रवण इंद्रियो घ्राण इंद्रियो रसन इंद्रियो पांच इंद्रिय इसको प्रमाण बोलते हैं और ये प्रमाण जो है कि जब वस्तु को हम देखते हैं तो मतलब किसी बाहरी वस्तु को इन प्रमाण के माध्यम से प्रयोग करके तब जानते हैं इसे बोध हमें प्रमाण के माध्यम से उत्पन्न होता है अवगति प्रमाणान फल कूटस्थ नित्य आत्म ज्योति स्वरूप इति परंतु वो जो है प्रमाण तो क्रिया रूप है और वो अवगति स्वरूप है तो वो कूटस्थ ये कैसे होगा तो विरुद्ध हो गया हम क्या देखते हैं इंद्रिय व्यापार पूर्वक जब कोई वस्तु को जाता है गिरता है जानते हैं तब हम हमको उस वस्तु संबंधित ज्ञान होता है तो हमें आत्मज्ञान होगा तो कूटस्थ नित्य तो आत्मज्योति तो आत्मा को ज्ञान होते ही आप बोल रहे तो ज्ञान में तो क्रिया होती है तो और वो जो है कूटस्थ भी है ऐसा कैसे हो जाएगा अब एक प्रमाण की व्यापार से प्रमाण की जिस प्रकार औजारों की व्यापार से कोई क्रिया संपन्न होता है कोई फल बोध उत्पन्न कोई क्रिया संपन्न होता है उसका बोध भी उत्पन्न होता है तो इसी प्रकार से प्रमाणों की व्यापार से इंद्रियों की प्रमाणों की व्यापार से जब आत्मा में कोई क्रिया उत्पन्न होगा तब तो आत्मा की शब्द स्पर्श रूप रसगंध का बोध होगा परंतु बात क्या है इस शब्द स्पर्श रूप रसगंध का बोध आत्मा को नहीं होता ये इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि में होती है और बुद्धि में शुद्ध आत्मा की प्रतिफलन होता है इसलिए वहां पे एक मैं अनुसूत है और फिर हम वो जो परिच्छिन्न अहंकार है वो बोलता है कि मैं जानता हूं मैं कैसे उसको उसका संबंध कर लेते हैं माने क्रिया नहीं होता वास्तविक इसलिए ये बोल रहे थे किंतु अवगति तो एक प्रमाण के द्वारा उत्पन्न होता है प्रमाण का फल है और प्रमाण मतलब कोई प्रमेय वस्तु के साथ उसका जो व्यापार होता है तब तक ज्ञान उत्पन्न होता है इधर आत्मा कूटस्थ नित्य भी है ये तो विरुद्ध कथन है ये तो उत्तर मतलब न भी प्रतिषिद्ध यहाँ पे ऐसा विरुद्ध कथन नहीं है पहले ही बोला तो वो दो दृष्टि है तुम्हारा दो प्रकार के ज्ञान है एक ज्ञान है जो है इंद्रियों के साथ मिलकर के उत्पन्न होते है वो अनित्य ज्ञान है परंतु एक नित्य ज्ञान है जो इस अनित्य ज्ञान को हमेशा देखता रहता है ज्ञान उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ हुआ तो कैसे हुआ ये जो देखता रहता है ये तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है ये अभिप्राय तो न ये कोई विरुद्ध कथन है कथम तरी कूटस्थ नित्य अपनी सती प्रत्यक्षादि प्रत्ययांते लक्ष्यते यदि कुटस्थ नित्य होते हुए भी ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण फिर अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण मतलब अनुमान प्रमाण मतलब कोई कुछ देख करके फिर कुछ निर्णय करना कहीं परिस्थिति के अनुसार निर्णय करना और आगम प्रमाण इस प्रकार प्रमाण अंतर लक्ष्य थे वो जो है कुटस्थ नित्य लक्षित होता है क्यों कुटस्थ नित्य कैसे लक्षित होता है बाहरी कोई वस्तु को हमने इंद्रियों से देखा इंद्रियों के दांत और वृत्ति अंदर जाती है अंदर जाने के बाद अंत चित्त से उसका संस्कार था तो वो उसको प्रतिफलित होता है उससे ये वस्तु ऐसा है और फिर जो है मैंने इसको जाना ये देखिए वो ये आत्मा लक्षित होता है कूटस्थ नेता पीछे तो कूटस्थ रहते हुए भी और प्रत्यक्ष जो प्रत्यय की अंत में जो उसमें जो मृत्यु उसके द्वारा लक्षित कहते होता है बोलते उसके द्वारा वो लक्षित होता है वो सीधा गृहित नहीं होता क्योंकि उसके लिए मैं जाना मैं सुना मैं समझा उसी के व्यवहार के लिए जब तक शुद्ध आत्मा में कोई व्यवहार नहीं है वो जो परिच्छिन्न शरीर के साथ आध्यात्म करके व्यवहार करते हैं उसके लिए ये प्रत्यक्ष आदि प्रमाण की उपयोगिता परंतु इस प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो अनित्य ज्ञान उत्पन्न होता है वो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए मतलब आत्मा रहने के कारण हो पाता है प्रत्यक्ष आदि प्रत्यय से अनित्य अनित्य एवं भवती आदि प्रमाण और वही जो आत्मा भी यदि ये आदि प्रमाण के द्वारा जाना जाता होता ना तो आत्मज्ञान भी अनित्य ज्ञान होता इस प्रकार हमने बचपन से कुछ भी पढ़ा जाना तो इंद्रिय आदि के माध्यम से मन बुद्धि के माध्यम से जाना तो परंतु वो ज्ञान जो है क्या होता है कुछ दिन बाद भूल जाता है जीवन में कितना चीज बचपन से अभी तक देख गया कितना चीज भूल गया कुछ ही उसका याद रह जाता है प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अनित थे यदि प्रत्यक्ष प्रमाण अनित होने के कारण आत्मा में यदि इसके द्वारा आत्मा स्वरूप तो लक्षित होता है तब तो आत्म गलत होता है उसके द्वारा आत्मा लक्षण वृत्ति के द्वारा जाना जाता है कि देखो जिसके धैर्य के कारण इस प्रकार ज्ञान उत्पन्न हुआ यदि इस आत्मज्ञान भी इस इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न हुई होती तो वो भी अनित्य होता अनित्यता तो मतलब फिर बार बार हमको जन्म मृत्यु चक्र से हम छुट्टी नहीं आत्मा पे कभी करते इसलिए तेन प्रमाण फलम उपचर्य थे इसलिए प्रमाण की फल आत्मा में जाता है मैं जानता हूँ मैं सुनता हूँ मैं सुनता हूँ ये जो है ये गौण प्रयोग होता है वो शुद्ध आत्मा में नहीं है वो अहंकारात्मक आत्मा में दिखाई पड़ता है अहंकारात्मक आत्मा वहीं पे सभी के अंदर आत्मा दोनों शुद्ध है वो मनोवृत्ति इंद्रिया विषय उसने जो विषय जा, जा करके उसको घेर करके जो ये पूरा उस बीच में ये सब में ही आत्मा पूर्ण रूप से व्यापक है परंतु उसका शुद्ध आत्मा के विद्यमान होने पर भी जिस परिच्छिन्न आत्मा में रह करके जिसने आत्मा में एक ही जगह पे बैठा हुआ है कोई वस्तु पड़ा हुआ है एक व्यक्ति उधर दिख रहा है एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है दोनों के अंदर आत्मा एक ही है परंतु प्रमाता अंतकरण व्यक्ति को उसने ध्यान नहीं दिया उसने नहीं जाना परंतु मन की जो आत्मा की चेतना था कि जो मन की माध्यम जो वृत्ति को इंद्र से बाहर नहीं गया उसने नहीं देखा अथवा अन्नत्र मन अभुमन मेरा मन और कहीं चला गया था इसलिए मैंने जो हमने जो बोला वो सुना नहीं अथवा समझ में नहीं आया इस प्रकार से आत्मा की उपस्थिति हमेशा एक प्रकार होने पर भी इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान उत्पन्न अनित्व ज्ञान उत्पन्न होता है उस अनित्व ज्ञान को सहारा लेकर के हम आत्मा को समझाया जा सकता है परंतु तो आत्मा में जो ज्ञान नित्य रूप है यदि आत्मज्ञान भी इंद्रियों के माध्यम से बुद्ध के माध्यम से हुई होती तब क्या होता है बुढ़ापा में बचपन में ज्ञान हुआ बुढ़ापा में भूल गया अभी कुछ भी मैथमेटिक्स याद नहीं आता इस प्रकार आत्मज्ञान भी ऐसा ही होता है परंतु आत्मा एक ऐसी वस्तु है जिसकी प्रकाश को एक बार जिसकी एक बार समझ जाता है मनुष्य तो फिर जो है उनका अपना स्वरूप है वो कभी नाश नहीं होता वो कभी घटते नहीं है वो ऐसे ही रहता है इसीलिए आप देखिए इसको समझाने के लिए बोलते हैं यदि एवं भगवत कूटस्थ नित्य अवगति आत्म ज्योति स्वरूप एवं स्वयं सिद्ध आत्मनि प्रमाण निरपेक्ष यदि ऐसा ही है ये भगवान शिष्य भी गुरु को बोल रहे हैं गुरु जी यदि ऐसा ही है कि आत्मा नित्य कूटस्थ बोध स्वरूप कूटस्थ नित्य अवगत अवगत मतलब बोध मैं कूटस्थ नित्य बोध स्वरूप हूँ और स्वयं प्रकाश आत्म ज्योति स्वरूप एवं शत स्वयं सिद्ध स्वरूप होने के कारण वो अपने आप स्वयं प्रकाश स्वयं सिद्ध होता है क्योंकि आत्मा कोई प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता प्रमाण आत्मा की अपेक्षा रखता है परंतु आत्मा प्रमाण की अपेक्षा नहीं रखता आत्मा प्रमाण का प्रमाण कोई किसी वस्तु को प्रमाणित करने के लिए मेरी अस्तित्व की विद्यमान है परंतु आत्मा किसी प्रमाण के तरफ प्रमाणित नहीं होता आत्मा रहे इतना इतना ही है कि आत्मा रहने के कारण प्रमाण व्यापार कर पाता है इसे आत्मा समझ में आता है इसे तो आत्मनि प्रमाण निरपेक्ष आत्मा प्रमाण का अपेक्षा नहीं रखता क्यों तत्व अन्नत अचेतनम संघत कारी तत्पुरात्म आत्मा से भिन्न संसार में जो भी वस्तु है वो सब अचेतन है और वो एक संघात रूप में पांच भूत से बना हुआ है इसलिए वो दूसरे के लिए ही होता है तो संघात दूसरे के लिए होता है जो भी कुछ जर जरात्मक संघात है वो अपने लिए नहीं होता वो दूसरे के लिए होता है और वही दूसरा जो है वो शुद्ध चेतन आत्मा है जेन च सुख दुख मोह प्रत्यय अवगति रूपेण पारार्थम इससे क्या होता है जो वो सुख दुख मोह किस किस से होता है इंद्रियों के माध्यम से विषय को देख करके विषय का कर संबंध करके अंदर यदि अनुकूल वृत्ति उठते हैं तब हमें सुख होते हैं विषय के साथ इंद्रियों के संयम से यदि प्रतिकूल वृत्ति होते हैं तब हमको दुख होता है विषय के साथ इंद्रियों का संयम हुआ यदि वो वस्तु हमारे पास नहीं है तो मन में अरे ये मिल जाता तो मेरे को अच्छा से मोहात्मक वृत्ति होता है इस प्रकार जो प्रत्यावगति रूप है ना पारार्थ है वो दूसरे के लिए होता है संघात तेन स्वरूपे न अनात्म इसलिए जितने सारे अनात्म वस्तु है वो जो है इस रूप में अभिव्यक्त होता समझ में आता न अन्य न रूपांतरे न तो नास्तित्व एवं परमार्थ इसलिए उस रूप में वो प्रमाणित होने के कारण उससे क्या हो गया कि अनात्म वस्तु की पारमार्थिक सत्ता नहीं है इसलिए बोलता है वो अन्न के द्वारा प्रमाणित होता है आत्मा दूसरे किसी के द्वारा प्रमाणित नहीं होता इसलिए आत्मा पारमार्थिक सत्य वस्तु है और आत्मा से भिन्न जितने सारे संसार में वस्तु है वो दूसरे प्रमाण के द्वारा प्रमाणित होता है उसी के द्वारा उसका अस्तित्व सिद्ध होता है इसलिए वो जो जो दिखाई देता है वो पारमार्थिक वस्तु नहीं होता वही यही मिथ्या की परिभाषा है वेदांत में इसलिए तेने स्वरूप अनात्म अस्तित्व उस उस रूप में अनात्मा वस्तु दूसरे के द्वारा सिद्ध हो गई उसका अस्तित्व सिद्ध था न अन्य रूपांतर है ना नास्तित्व में परमार्थ इसलिए वो वस्तु पारमार्थिक नहीं होता है दृष्टांत तो देकर के समझा रहे ऊपर क्या कहना चाहते हैं जिस प्रकार लोक में रज्जु सर्प मरीच उदकादि नाम तद अवगति के न अभाव दुष्ट ये ये, ये हमारा क्वांटम थ्योरी है ये क्वांटम वर्तमान इसके बोलते हैं कि जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ता है वो यदि कोई दृष्ट है तो सिद्ध होता है और यदि दृष्ट नहीं है तो सिद्ध नहीं होता है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहे सर्प कब तक है जब तक मैं उसको सर्प रूप में देख रहा हूँ वहां पर सर्प नामक कोई वस्तु है ही नहीं केवल अधिष्ठान रज्जु है परंतु सर्प नामक वस्तु रूप में प्रती होती है क्यों वो देखने वाला है जब तक हम वहां पे नहीं देखते तो सर्प नामक कोई वस्तु नहीं था इसी प्रकार पूरा क्रिएशन ऐसा ही है कि कोई दृष्टा है तभी जाके उसको दूसरा रूप में प्रतीति होती है इसलिए वास्तविक उनकी पारमार्थिक कोई अस्तित्व नहीं है न अन्य न अत नास्तित्व में वो परमार्थ पारमार्थिक नहीं है तथा ही लोके रज्जु सर्प आदि नाम तद अवगति न अभाव प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प मरुभूमि में दिखाई दे रहा है पानी वो केवल मरुभूमि के ऊपर दिखाई दे रहा है पानी ध्यान रखो पानी अलग वो केवल एक बोधात्मक ही है हमारी बुद्धि में ही बैठा हुआ है उसका कोई पारमार्थिक अस्तित्व तो नहीं है उसका कोई पारमार्थिक अस्तित्व तो नहीं है कौन किसको बोला जा रहा है रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर को मरुभूमि के ऊपर दिखाई दे रहा है पानी इस प्रकार से उसका पारमार्थिक अस्तित्व नहीं है जब तक मैं देख रहा हूँ भ्रांति से तब तक उसका अस्तित्व है और जब हम देखना बंद कर देंगे अथवा तो भाग जाएंगे तो सर्वतीर्ण काल में वहां पे है ही नहीं अथवा कोई मेरे को दिखा देगा ले जाकर देखो यहाँ पे ना रज्जु है यहाँ पे ना पानी है तो भी उस रज्जुता तो हम खुद ही निर्णय करेंगे तीनों काल में यहाँ पे जो सर्प मैं देख रहा था तीनों काल में यहाँ पे है ही नहीं यथा लोके रज्जु सर्प मरीचि उदक आदि ना तद अवगति व्यतिरेक अभाव वो केवल मात्र बुद्धि में है उसका अभाव देखा जाता है एवं जागृत स्वप्न द्वैत भाव अभी तद अवगति व्यतिरेक अभाव इसी प्रकार से जागृत और स्वप्न में जो भी कुछ व्यवहार हो रहा है उस शुद्ध आत्मा के ऊपर हमारी जन्मांतरीय संस्कार से एक प्रतीति मात्र है एक प्रकृति मात्र है यदि हम वहां से मन को उठा पाता है फिर उसके अस्तित्व को लेकर के हमें कोई चिंता नहीं है इसलिए मतलब जता ही लोके रज्जु सर्प मरिचुद्धि नाम तद अवगति व्यतिरेकन अभाव दृष्ट उसका अस्तित्व केवल मात्र बुद्धि नहीं है बाकी कहीं नहीं है एवं एवं परमार्थ तो ठीक इसी प्रकार से परमार्थिक से भगवान अवगतिर आत्म ज्योतिष नहीं जानकारी अभाव कूटस्थ नित्यता अद्वैत भाव सर्व प्रत्यय भेद इसलिए बोलते हैं इसी प्रकार से एवं पारमार्थिक दिशा से हे भगवान गुरु जी को संबंध है भगवान अवगत है जो बोध स्वरूप आत्मा मतलब चैतन्य आत्मज्योति जो बोध स्वरूप है निरंतर अभाव उसका निरंतरता के अभाव है और कुटस्थ नित्यता अद्वैत भाव वो कुटस्थ नित्य है अद्वैत भाव सर्व प्रत्यय अभ्य विचार प्रत्यय का जो भिन्न होने के कारण वो व्यभिचार तो हम क्या लगता है उसकी जो है निरंतरता के अभाव दिखाई पड़ता है और कुटस्थ नित्यता के अभाव देखें तो अलग अलग प्रत्यय में अलग अलग प्रकार से उसकी उपस्थिति वहां पे है परंतु उस रूप में प्रतीति होता है जिस प्रकार की मनोवृत्ति हुई उसी के साथ मिल करके मैं शब्द को जाना स्पर्श को जाना रस को जाना परंतु इसमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भिन्नता हो रहा है परंतु जानने की भिन्नता नहीं हो रहा है वहां पे वो अव्यभिचारी रूप में विद्यमान रहते हैं एवं पर भगवान अवगत है आत्मा ज्योतिष निरंतरीय भावात निरंतरता भाव है उसका एक निरंतर भावात एक निरंतरता की भाव है ये क्यों वहां पे घट को जाना पट को जाना मठ को जाना शब्द को जाना स्पर्श को जाना शब्द रूप को जाना रस को जाना गंध को जाना ये जो निरंतरता जाना जाना जाना कूटस्थ नित्यता अद्वैत भाव से फल तो क्या होगा वो कुटस्थ नित्य है परंतु आपको प्रती होती है क्या कि जो है विषय के साथ तो अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं मतलब अलग अलग विषय होने के कारण परंतु उसकी जो भाव मतलब शब्दों को भी मैं जाना स्पर्श को जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये अलग अलग वस्तु है इसको जानने की प्रक्रिया की भी अलग अलग है परंतु इसको जानने का जो फल जो बोध वो अलग नहीं है वो एक ही प्रकार की है बात हमेशा अव्य विचारी है इसलिए बोलते हैं नहीं एवं एवं परमात्मा तथा भगवान अवगत ये जो बोध है जो अवगत स्वरूप अवगति रूप स्वरूप जो आत्मा के प्रकाश है निरंतर भावात हमेशा उसकी जो है निरंतरता है क्योंकि वो निरंतरता ही उसकी कुटस्थ नित्यता के प्रमाण करते हैं और अद्वैत भाव से भेद रहित है वो वहां भेद क्यों दिखाई दे रहा है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध अलग अलग उनका भेद की प्रती होता है जैसे मैं कई बार बोला कि मान लीजिए पीछे एक सफेद लाइट है और उसके ऊपर आपने एक डिस्क में पांच अलग अलग छेद करके उसके ऊपर पांच अलग अलग कलर लगा दीजिए अब डिस्क घुमाने से क्या हो जाएगा कि वो जो है वो लाइट आपको लाल काला पीला हरा इस प्रकार दिखाई देगा परंतु पीछे का लाइट हमेशा ही सत्य एक ही प्रकार है पांच रंग की जो हमने अलग लगाया था लाल काला पीला हरा नीला ये जो पांच रंग हमने लगाया लाइट बाहर से जो है अलग अलग दिखाई देने पर भी लाइट की निरंतरता है लाइट रूप में लाइट की निरंतरता है और कलर रूप में व्यभिचार है लाइट रूप में निरंतर है कलर रूप में व्यविचार है और कलर रूप में व्यविचार क्यों है क्योंकि हमने अलग अलग रंग की कलर लगाया इसीलिए कलर लाइट तो हमेशा ही सफेद है ये जो है आत्मा की निरंतरता और कूटस्थता कूटस्थता और अद्वैत भाव अद्वैत भाव माने प्रकाश में भेद नहीं है प्रकाश एक ही है परंतु वो जो अलग अलग ऊपर कागज लगा हुआ है शब्द स्पर्श रूप प्रसगंध का मतलब इंद्रियों की माध्यम इंद्रिया गोलक है ना यही जो है छेद है इसके ऊपर पेपर लगा है अपने अलग अलग प्रकार के और उसमें से आत्मा का प्रकाश बाहर आ रहा है उस इसलिए आत्मा का प्रकाश अलग अलग प्रतीति होती है परंतु अंदर देखेंगे तो आत्मा के प्रकाश हमेशा ही एक शुद्ध सफेद प्रकाश ही है आत्मा के प्रकाश में कोई परिवर्तन कभी भी नहीं आया इसलिए तो अब व्य विचारा प्रत्यय भेदस्तु अवगति थी जो प्रत्यय की भेद हमारी बोध में भिन्नता ला देते हैं प्रत्यय की भेद मतलब शब्द को जानने के लिए एक प्रकार की वृत्ति फिर रस को जानने के लिए एक प्रकार की वृत्ति गंध को जानने के लिए एक प्रकार की वृत्ति परंतु तो हमने सुगंधि को सुहा हमने कठोर वस्तु को पकड़ा इस प्रकार से ये जो बोध प्रत्यय भेदस्तु अवगति भैचर्य प्रत्यय भेद से अवगति में जो है भिन्नता की प्रती होती है मतलब शुद्ध आत्मा को उस प्रत्यय भेद को छोड़कर यदि अवगति को देखोगे वो तो हमेशा एक ही प्रकार के ये दृष्टान्त को ध्यान रखने पर जो लाइट और उसके ऊपर लगा हुआ डिस्क उसके ऊपर कला इसी प्रकार आत्मा की प्रकाश अंदर अंदर भी विद्यमान पूर्ण भी विद्यमान तो उसके ऊपर ये पांच छेद है शब्द स्पर्श रूप रसगंधों को जानने के लिए उसके ऊपर जो है वो कलर पेपर लगा हुआ है गलत के बारे मतलब अलग अलग वस्तु को जानने के लिए अलग अलग तरीका उससे क्या होता है कि हमें भिन्नता की प्रती होती है बोध में मैं शब्द को जाना रस को जाना स्पर्श को जाना गंध को जाना परंतु देखिए जाना में व्यभिचरित्व नहीं है वो जानने के विषय भिन्नता होने के कारण अलग अलग जाना ऐसे पतित मतलब ज्ञान में कोई व्यभिचरित इसको समझाने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि एवमेव परमार्थ भगवान अवगत आत्मज्योतिष कूटस्थ नित्यता अद्वैत भाव से सर्व प्रत्यय व्यभिचार और व्यभिचार कहाँ पे हो रहा है शब्द स्पर्श रूष्म में व्यभिचार हो रहा है परंतु ज्ञान में व्यभिचार नहीं हो रहा इसलिए प्रत्यय भेदस्थ प्रत्यय की भिन्नता के कारण बोध में व्यभिचार देखता है यथा स्वप्ने नील पीताद्या पीताद्याकार भेद रूपा प्रत्यय तद अवगति परमार्थ तो न संति उच्चत जिस प्रकार स्वप्न में देखा हुआ लाल नील काला पीला आकार रूप रंग रूप वस्तु रूप भिन्न भिन्न वस्तु देखा उसका बोध भी होते हैं और उसको व्यविचार करते हुए भी परमार्थ तो न संति जब हम जग जाते हैं तब हम निश्चय करते हैं जो मैं देख रहा था उसमें एक वस्तु भी सत्य नहीं उस समय ना हमारा कमरा छोटा सा कमरे में इतना बड़ा पहाड़ कहाँ से आ जाएगा इतने रोज समुद्र देख इतना बड़ा कमरे के अंदर समुद्र देख रहे हैं वो कहाँ से आ जाएगा वो वस्तु भी कहाँ पे है न संति इति उच्चंति एवं इसी प्रकार जागृत काल में भी नील पितादि प्रत्यय भेदा ताम एवं अवगति व्यभिचरंत असत्य रूपा भवित ठीक इसी प्रकार जो जागृत काल में भी वो जो शब्द स्पर्श रूप रसकंद की प्रत्यय की भिन्नता से व्यविचार करता है जो व्यविचार करता है वो जो है मिथ्या माना जाता है इसलिए वेदांत की यही है कि आपको वस्तु नहीं दिखाई देने से मिथ्या ये बात नहीं है वो असत हो जाएगा परंतु जो वस्तु जिस रूप में दिखाई दे रहा है वो उस रूप में स्थित नहीं रहता यही उसका मिथ्यात्व की परिभाषा है फिर यहाँ पे बोलता है एवं उसी प्रकार से चाहे स्वप्न काल में जो वस्तु का हम देखते हैं जागने के बाद वो वस्तु नहीं मिलता वो वस्तु वहां पे नहीं मिलता वस्तु बाहर कहीं भी हो सकता है इसी प्रकार जागृत काल में भी नील जी लाल नीला काला पीला शब्द स्पर्श रूप गंध किसका जो प्रत्यय की भिन्नता होने पर गए ताम एव अवगति वो बोध को जो हमारा शुद्ध बोध है वो शब्द का ज्ञान स्पर्श का ज्ञान शब्द रूप का ज्ञान रस उस मैं विचार करता है क्योंकि वो ज्ञान उस उसके साथ मिल करके मतलब शब्द स्पर्श रूप गंध में व्यविचार है ज्ञान में व्यविचार नहीं है इसलिए शब्द स्पर्श रूप गंध मिथ्या है परंतु शुद्ध आत्मा मिथ्या नहीं है बस जो व्यभिचार करता है उसको हमने मिथ्या बोलते मिथ्या की जत रूप में जिस वस्तु को जिस रूप में निश्चय किया जाता है वो वस्तु जो हमेशा उस रूप में रहता है तो वो सत्य है और जिस वस्तु को जिस रूप में निश्चय करते हैं परंतु तो हमेशा उस रूप में नहीं रहता है वो बदलता रहता है वो उसको हम वेदांतिक शब्द से मिथ्या बोलते हैं इसलिए असत्य रूप भवी तुम तस्च अवगते अन्य अवगंता नास्ती न स्वे न स्वरूप न स्वयं उपादा तुम हाथु मशक्कत अन्न शब्द है वो जो शुद्ध बोध स्वरूप है उसको जानने वाला कोई नहीं है सच अवगते अन्न अवगंता नास्ति उसको जानने वाला दूसरा कोई नहीं है वो स्वयं प्रकाश है और न स्वेन स्वरूप न स्वयं उपाधा तुम और अपने द्वारा अपने को कोई ग्रहण भी नहीं कर सकते त्याग भी नहीं कर सकते अपने द्वारा अपने को कोई ग्रहण नहीं कर सकता ना कोई त्याग कर सकता कितने भी नृत्य करने में दक्ष हो कोई नृत्य करने वाला तो वाली उनको यदि कहा जाए अपने कंधे में उठ करके नाच करके दिखाओ नहीं चल सकते हमको यदि कहा जाए इसी उंगली से इसी उंगली को पकड़ के दिखाओ नहीं कर सकते इसी प्रकार अपने आप अपने को तस् अवगत है जो बोध है ना अन्न अवगत दूसरा उसको जानने वाला कुछ नहीं कोई नहीं है नास्ती थी और दूसरी बात आप अपने आप अपने को विषय रूप में आप ग्रहण भी नहीं कर सकते त्याग भी नहीं कर सकते ग्रहण भी नहीं होता त्याग भी नहीं होता दूसरे को ग्रहण किया जाता है दूसरे को त्याग किया जाता है इसलिए वही हमारा पारमार्थिक स्वरूप है स्वयं पाता तुम हाथ बशक कर क्योंकि उससे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं कि दूसरा होता तो आपको तय करके दूसरा कोई किसको पकड़ेगा शरीर को पकड़ सकते शरीर को जला सकते हैं फिर सकते तो आत्मा तो एक ही है इसलिए उसको ना पकड़ा जाता है ना छोड़ा जाता है तथा इसे अन्न समय ईश अविद्या ये जो इसमें सतत्व बुद्धि होती है और जो व्यविचार करते ही अविद्या है संसार जागृत स्वप्न लक्षण जिसके कारण से ये संसार जागृत स्वप्न सुशुद्धि के मुक्त रूप से प्रतीति होती में प्रतीति होती है उस अज्ञान का तस् अविद्या विद्या निवर्तिका उस अज्ञान को मिटाने वाला है ज्ञान इसके बिना कोई रास्ता नहीं है ये जो है हम अपने को भिन्न रूप में तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के साथ मिला करके हम अपने को देखना सीखा परंतु ये जो यही जो अपने को मिला के देखना सीखा यही अज्ञान है यही अज्ञान नहीं अज्ञान तो नहीं दिखाई देगा अज्ञान का कार्य है अविद्या मतलब जिसके निमित्त से ये अविद्या के कार्य से संसार जागृत स्वप्न से रूप दिखाई पड़ता है और इस अज्ञान का मिटाने वाला कौन है आत्मस्वरूप का यथार्थ बोध तस्वीर अविद्या विद्या निवर्तिका इति एवं तम अभयम प्राप्त इस प्रकार से देखो अपने के इस प्रकार से यदि तुम जान लोगे तब तो क्या हो जाएगा संसार में कोई वस्तु की भय नहीं आएगा क्यों द्वितीय कोई भय जब तुम जान लोगे संसार में एकमात्र मैं ही पूर्ण रूप से विद्यमान हूँ मुझसे भिन्न कर संसार में कोई वस्तु नहीं है फल तो क्या हो जाएगा कि भय चला जाएगा ही नहीं होता यद्यपि इसमें थोड़ा सा हमारा सामान्य रूप से क्या हमारा अभ्यास है तो दैत्य के साथ रहना इसीलिए कभी कभी अकेले में डर लग जाता है हाय मैं प्रजापति ये जो हिरण्य गर्भ पद में बैठने जा रहा है प्रजापति उसको जब हिरण्य गर्भ पद में बैठने गया तब उसको पहले डर हुआ सो अभी स्वाभिभेद तो। क्यों वो हमेशा द्वैत भाव में रहने का अभ्यास हुआ था उनका उपासना भी ऐसे किए थे अब जब वो अकेला हिरण्य गर्भपद में बैठने जा अपने को अकेला पाया क्योंकि वो अकेला है तो पहले उनको डर होता है इसीलिए आज भी मनुष्य को अकेला में पहले थोड़ा डर होता है फिर विचार करने से अरे मैं किस लिए डर रहा कहाँ से डर रहा क्यों डरूंगा मैं मेरा कोई हानि करने वाला है नहीं जब ये निश्चय हो जाता है फिर डर चला जाता है अकेला में मनुष्य का अप्रीति भी होती है इसलिए द्वैत को खोदता है क्योंकि प्रजापति ने ऐसा ही किया था इसी प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा मैं ही असंग व्यापक सिद्ध चेतन तत्व हूँ और मेरी अस्तित्व से सारा संसार अस्तित्व को प्राप्त किया हुआ है और ये अस्तित्व अन्य वस्तु के जो नाम रूप के माध्यम से अस्तित्व समझ में आता है वो अस्तित्व हमेशा ही शुद्ध है वो जो अस्तित्व हमेशा शुद्ध है परंतु नाम रूप में व्यभिचरित है इसलिए उस वस्तु से उस किंतु तो हम जो है अस्तित्व से अलग करके नहीं समझा भी था नाम रूप के माध्यम से अस्तित्व को समझते हैं और नाम रूप व्यविचार करते हैं तो अस्तित्व के व्यविचार हुआ ऐसा लगता है और इसलिए हम दुखी होते हैं इसलिए जागृत स्वप्न काल में भी यदि इस बोध स्वरूप आत्मा के ऊपर ही सारा व्यवहार हो रहा है उस बोध स्वरूप आत्मा में कभी भी कोई परिवर्तन ना हुआ ना हो रहा है ना हो सकता है ना, ना होगा कभी इस प्रकार से जब हम निश्चय कर लेंगे तब क्या होता है कि कभी भी डर भी नहीं होगा और ये अपनी पूर्णता की आनंद जो है वो, वो बाहर विषय विषय जनित आनंद नहीं है वो जो है कि इंद्रियों के साथ विषय की संस्पर्श से जो भोग है उससे जो आनंद उत्पन्न होता है ये वैसा आनंद नहीं है वो आनंद तो नाशवान होगा व्यभिचारी होगा फिर दोबारा दुखी हो जाएगा ये जो है अपने स्वरूप संबंधित बोध कूटस्थ नित्य शुद्ध चेतन मात्र हूँ जिसके प्रकाश के कारण जिसके रहने के कारण सारा संसार व्यवहार हो पाता है इस प्रकार से जब आप जानेंगे तब आप जो है अभय पद को प्राप्त कर जाए अभयम वही जनक को प्राप्त गोबर को जनक जनक तुम अभय पद को प्राप्त करके तुम अपने स्वरूप को इस प्रकार से परोक्ष ज्ञान से भी ऐसा होना संभव है तो अपरोक्ष अनुभूति में तो उपाय का स्पर्श ही नहीं है यदि बार बार मन में ऐसा ही विचार रहता है कि भगवान भिन्न संसार में कुछ भी नहीं है जो भी कुछ दिखाई दे रहा है उसकी व्यभिचारित्व के कारण ये सत्य वस्तु नहीं है ये भ्रांति से प्रतीति मात्र हो रहा है तो भ्रांति से सुख कारक है ऐसा प्रतीति होती है इस प्रकार से मन को जो धीरे धीरे वहां उठा सकते हैं तो हम अपने स्वरूप सुख में हमेशा रह सकते हैं इसलिए बोलते हैं ना अत परम जागृत स्वप्न दुखम अनुभव शशि यदि इस चीज को तुम समझ जाओगे तब क्या हो जाएगा ये जो तुम बोले थे कि जागृत स्वप्न काल में बार बार दुखी होता रहता हूँ फिर सुसुप्त में जा करके थोड़ा सा हो जाता हूँ ये दुख होने की व्यवहार तो करोगे परंतु तो दुखी नहीं होगे सामान्य मैं बोल रहा यदि मन से हम निश्चय कर लेते हैं जो भी कोई विषय हमारे पास में है विषय की धर्म अनित्य है जो हमारे वैराग्य शतक में था तो वो एक दिन हमको छोड़ के जाएगा ही जाएगा अथवा हम उसको छोड़ के जाना पड़ेगा तो जब यदि वो हमको छोड़ के जाए अथवा हमें वांछित रूप में हमको छोड़ के जाना पड़े तो हम दुखी हो जाते हैं और जबकि इसका नियम ही है कि हमको छोड़ना ही है तो इसलिए विवेक पूर्वक पहले से ही छोड़ के क्यों नहीं रखते हो तो हमेशा आनंद में तो हमेशा आनंद मिलेगा यही जो है बोलते हैं पे ना अत परम जागृत स्वप्न दुख कम अनुभवेश इसके बाद तुम्हें जागृत स्वप्न में जो दुख है ना यदि इस प्रकार से अपने को समझ जाओगे कभी भी दुख का अनुभव नहीं करोगे क्योंकि संसार दुखात मुक्त हो सी इस प्रकार संसरण करने का जो दुख होता है बार बार मातृगर्भ में आना जाना शरीर लेना इस दुख से फिर मुक्त हो जाओ आज मुक्त हो गया हो तो बस बोलते बोलते You liberated from the misery of the transtemporary existence. जो बार बार आना जाना डूबे धर्म इससे तो मुक्त हो गया है शिष्य बोलते हैं वो बोलते हाँ ठीक ठीक हमने अब समझ में समझ में आ गया मेरा पारमार्थिक स्वरूप क्या है इस प्रकार से जो ये गद्य के दूसरा भाग समाप्त होता है गद्य के तीसरा भाग भी है इसमें परिशंकात्मक निषेध विधि मतलब ये तुम इसको स्पष्ट करने के लिए परिसंख्यान एक विधि है एक हो गया अपूर्व विधि नियम विधि परिसंख्यान विधि अपूर्व विधि मतलब जिसको हम दूसरे किसी प्रकार से नहीं जान सकते जिस वाक्य से उसको हम जानते हैं वेद में उसको अपूर्व विधि बोलते हैं और अनेक वस्तु में से एक को निर्धारण करने के लिए नियम विधि बोलते हैं और परिसंख्यान विधि वो होता है निषेध में इसको प्रयोग है मतलब कोई वस्तु मांस मांगना देखा मांस मदिरा दिखाने की इच्छा नहीं तो शास्त्र बोल रहे देखो कि यदि खाना ही है तो इसको छोड़ कर देखो अभिप्राय यह है खाने के लिए नहीं नहीं खाना तो अच्छा है अब नहीं खाए तो रह सकते तो, तो ठीक है इतना मतलब करो इस प्रकार की जो है परिशंकन प्रकरण ये जो, बोल करके आया उसी को दृढ़ करके पकड़ने के लिए और किसको छोड़ना है किसको रखना है किसको दिखाने के लिए अगला ग्रंथ भाग आएगा उसको कर बात इसको नहीं छोटा सा फिर पद्य भाग में चले जाएंगे इस प्रकार से पूरा ग्रंथ ही ऐसा ही है बार बार बार बार वेदांत तत्व अपने स्वरूप की विचार जागतिक वस्तु के माध्यम से अपने को उसको देख रहा हूँ पर उसमें से अपनी चेतनता को कैसे समझ पाऊँ अपनी असंगता को कैसे समझ पाऊँ उसी को लेकर के यहाँ पे समझ आप यहाँ पे जो है वैराग्य शतकम और कौन सा श्लोक को किया था কৃচ্ছনা মেধা মধ্যে নিয়মিত তনুভি স্থিরতে গর্ভবাসী এইটাই মানেটা হবে আর কি পড়া হয়েছে इसका पहले ये बोले थे आयु कल्लोलम कतिपय दिवस स्थायी यौवन श्री आयु तो अत्यंत चंचल है मनुष्य के जीवन के कब सांस बंद हो जाए कोई गारंटी नहीं है कोई विश्वास नहीं है उसका और जीवन की सुंदर यौवन भी ही अनस्त ही है परमात्मा के समय के हिसाब से ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं रहता है और जो विषय की संकल्प है वो तो बादल में दिखाई दे रहा है विद्युत की चमक की तरह इसे इतना ही छोटा सा भोग होता है और जो अपने प्रिय वस्तु का लिंकन करके भोग तो भोग को वस्तु ही नहीं उतना छोटा समय है तो भोग कहाँ से लंबा समय है भूखुबस्तु तो स्वरूप यदि मेघ में दिखाई दे रहा है विद्युत चमक की तरह है तो वो कहाँ से जीवन भर होगा ये तो होना संभव ही नहीं है इसलिए ब्रह्म ने आशक्त चित्ता भगवत भव भयम दीपारम तुम ये भव रोग रूपी जो संसार सागर है उसको पार यदि इच्छा करना चाहते हो तो भगवान में आशक्त चित्त करो जगत आशक्त चित्त होकर के कभी भी ये दुख से पार नहीं पा भगवान आसक्त चित्त होगा भगवान पर यदि मन लगेगा तब जाकर के संसार से पाकर हो सकता है और संसार में जितना भी आना होता बार बार बार बार जो है इस मातृगर्भ में रहना और फिर सुख दुख को भोग करना और दूसरे के अवहास के पात्र बनना ये जो है संसार में कहीं सुख आपको पारमार्थिक दिखाई दिया का संसार में कहीं सुख आपको अनुभव हुआ जीवन के अंतिम में आकर के कभी कोई अच्छा घटना याद आता है याद आता है जीवन का तो अच्छा लगता है पर फिर हम विचार करके देखते हैं कि वो अच्छा घटना तो कुछ क्षणस्था ही था वो हमारे लिए जैसे ही वो चला गया हम दुखी हो जाते हैं इसको समझाने के लिए इस संसार में बिंदु मात्र भी शोक एक क्षण के लिए भी नहीं है विचार करेंगे तब तो पता लगेगा मैं बोला कि जो दर्शन की सूत्र ही है ये कि दुखम सर्वम विवेक विवेकी व्यक्ति के लिए तो सब दुख रूपी है भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि ही संस्पर्श जब होगा दुख जन विषय इंद्रियों की संयोग से जो भोग उत्पन्न होता है चाहे वो शब्द स्पर्श रूप रसखंड कुछ ना हो तो वो जो है दुख जन वो तुम्हारे लिए दुख उत्पन्न करेगा अर्जुन इसलिए नाते बुधा बुद्धिमान व्यक्ति इसकी इच्छा नहीं करती इसमें रमन नहीं करते देखिए यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे कि हे मनुष्य यदि संसार में तुम सुख तुमको कभी मिला होगा होता तब तो तुम बोलते ठीक है मुझे यहाँ से मिला तो कभी होता ही नहीं तो क्यों फिर इसके पीछे बार बार पड़े इसलिए इस संसार से मुंह घुमा करके भगवान प्राप्ति के लिए प्रयास करें कृच्छेदौमित्थमुद्य नियमिततनुभीर्सीयते गर्भवासे कान्ताभिश्लेषदुःखव्यतिकरविषमो यौवने चोपभोगः वामाक्षीणाम् अवज्ञा विहसितवसते वृद्धभावप्यसाधु संसारे मनुष्यवदत यदि सुखम् अल्पम अस्ति किंचित जी मातृगर्भ में अत्यंत तो, मतलब रहने जो को स्थान है ही नहीं वो मल मूत्र पुरुष से भरा हुआ स्थान है इस जगह में श्री गर्भवास उस गर्भ में जहाँ पे नियमित हाथ पैर बंद करके पड़ा रहना पड़ता जिस प्रकार आपको कोई हाथ पैर बंद करके थोड़ा थोड़ी देर के लिए रख दे कुछ ही देर में हाथ पैर में दर्द होने लगता है परंतु वहां पर तो मजबूर है कुछ भी हम फैला नहीं सकते हाथ पैर बंद करके वहां पर समस्त गात्र को संकुचित करके अत्यंत कष्ट में चेन अत्यंत कष्ट रूप से स्थित मतलब वहां पे अवस्थान किया जाता है गर्भवासे अवैध मध्य तो में एक वचन है दोनों ही मतलब गर्भस्थान जहाँ पे बिल्कुल समस्त समस्त मतलब खराब वस्तु की जगह उसमें क्या किया हमने नियमित तनुभूति एक संकुचित शरीर के द्वारा नियमित तनुभूति कृच्छेना अत्यंत कष्ट करके स्थिति वहां पे विद्यमान आ जाता है क्या बोलते हैं जौवन जौवन काल में मतलब जौवन काल में उपभोग कांता विष्ट जो प्रिय वस्तु के साथ जो सुख है वो भी दुख व्यक्ति का दुख संस्पर्श वश क्योंकि वो तो कुछ देर में बिगाड़ जाता है अथवा अधिक देर सामर्थ्य भी शरीर का सामर्थ्य भी नहीं रहता है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं वो भी दुख से कांता विशेष दुख व्यतिकर विषम जो बने ये जो है मतलब अपनी प्रिय वस्तु से बिछड़ने का रूपी जो है वो वही दुख में परिणत हो जाता है फिर बामाक्षी नाम अभोग्य अभ्यसित वसुते वृद्धावस्था में एक हो गया गर्भावास की अवस्था के बारे में बताया एक जो है यौवन अवस्था को लेकर के बताया अब वृद्धावस्था में सब हंसी उपहास करते हैं उस समय जो है अवज्ञा की दृष्टि से देखते हैं पामाक्षी नाम अवज्ञा विहसित वसती वृद्ध भाव ये जो है वृद्ध अवस्था भी ये कोई सुख कारक नहीं है इसलिए हे मनुष्य संसार में रे मनुष्य संसार बोलो बोलो बदत संसार यदि सुखम अल्पम अस्थि किंचित थोड़ा सा भी यदि संसार में कभी तुम्हारा जीवन में सुख जो तुमको ढूंढ रहे थोड़ा सा भी आया होता तो बोलो क्यों संसार में मन लगा के पैर पहले हुए यहाँ से अपवित्र पूर्ण पदार्थों में मातृगर में समस्त शरीर को संकुचित करके वहां पे पड़ा रहना पड़ता है एक भयंकर कष्ट फिर जो सुख अवस्था में सुख भोग भी थोड़ी देर के लिए और फिर बेहद हो जाता है वो भी दुख परिणत हो जाता है बुद्ध बुद्धावस्था में हम सबकी अवहस के पात्र बन जाते हैं क्यों अवकाश के पात्र बनते हैं क्योंकि इच्छा तो रुकती नहीं है परंतु सामर्थ्य नहीं होता भोग भोजन की इच्छा अन्न भोग की इच्छा ये तो संभव नहीं होता परंतु शारीरिक सामर्थ्य नहीं रहता परंतु क्या होता है हम अन्न की अवहस का पात्र बन जाते हैं देखो बुढ़ा हो गया अभी भी जो है भोग इच्छा नहीं गया ये जो है ये अवभाष के पत्र बन जाते हैं इस प्रकार से संसार में मातृगर्भ में व्यवहार के यौवन काल में बूढ़ापा में सब संहार में हर एक समय जो है दुख से अन्वित होकर ही हमको जीना पड़ा कष्ट से अन्वित होकर के हमको जीना पड़ता है इसलिए यदि कभी सुअल्पम किंचित भी यदि थोड़ा सा भी अगर संसार में कहीं सुख रहा होता तब तो इसके प्रति थोड़ा आकृष्ट होता इस संसार में सुख नामक कोई वस्तु तो अनितम अशुकम लोकम जिसने सृष्टि किया वो सृष्टिकर्ता ने स्वयं ही बता रहा है कि संसार सुख की जगह नहीं है परंतु माया की अद्भुत महिमा है इसी वजह से हम लोग सुख ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं व्यवहार ठीक है व्यवहार करते हुए बिल्कुल संसारिक वस्तु से मन को ऊपर उठा करके प्रारंभ के कारण शरीर का ऐसे व्यवहार झेलना पड़ रहा करना पड़ रहा है परंतु इसके साथ हमारा कुछ दिनों का अंदर संबंध नहीं है ना इससे हमें कोई उम्मीद रखते हैं इससे हमें कोई उम्मीद नहीं रखते यही ये चीज को मन में रखने से तब मन भगवान भगवान से जो भी उम्मीद करना है तो भगवान से इच्छा करे भगवान से मतलब प्राप्ति यदि कुछ इच्छा तो उन्हीं को बोले आगे संसार से तो कुछ वस्तु शुभकारक नहीं हो सकता इस प्रकार से जो हमारा दुख के सारा कारण यहाँ पे देखने पर भी हम जो है इसमें से मन को हटा नहीं पाते ये सबसे बड़ा आश्चर्य है इसी इसको ग्रंथकार ने अगला श्लोक के द्वारा बोलते देखो क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे व्यग्रीवतिष्ठति जरा परित परित जयंती रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् आयु परिश्रवती भिन्न घटादीव अम्भो लोकस्तथापि अहितम आचरती चित्रम व्यघ्रीव तिष्ठति जरा परित जय परि परितर जयंती रोगाश्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम् आयु परिश्रवति भिन्न घटादीव अम्बो लोकस्तथापि इति विचित्रम् क्या विचित्र बात है चित्र मतलब विचित्र क्या अद्भुत आश्चर्य की बात बड़ी बहुत ही बड़ा विचित्र है क्या जो बुढ़ापा है वो तो एक घड़ी मतलब एक भयंकर शेर की तरह हमेशा मतलब गरजता रहता है अरे मैं हूँ तेरे पीछे खड़ा हुआ कि हाँ कहा भोग के पीछे जा रहे हमेशा जो है वार्तक भी परिणाम और वार्तक की तरह जाता पक्ष है शरीर की ही अवस्था चाहे तो अस्थि बढ़ते तो हो गया आप भी परिणाम अपक्ष है हमेशा जो है तर्जन गर्जन करता ही रहता हाँ थोड़ा इधर उधर करोगे तो बस पकड़ लूंगा गला घोट दूंगा इस प्रकार से जरा जो है हमेशा हमको डराता रहता है और रोग भोग तो कहना है कि रोग शत्रु हम रोग तो शत्रु की तरह शत्रु के जैसा निरंतर शरीर को प्रहार करता ही रहता है शत्रु जैसे हमारे शरीर को मारने के लिए अस्त्राघात करते रहते हैं इसी प्रकार रोग भी शत्रु की तरह नित्य इस शरीर को प्रहार करते रहते हैं और जिस प्रकार एक छेद वाला घरे में पानी रखोगे तो क्या होगा वो पानी धीरे धीरे धीरे धीरे गिर के क्षय हो जाएगा आयु भी इसी प्रकार से टूटा हुआ घरा में पानी की तरह नित्य कम होता जा रहा है नित्य कम होकर अद्भुत उपमा दिया सुंदर लोग को तथापि अहित इतना इतना जानने पर भी हम मनुष्य जो है अहित आचरण करते अपने लिए जो उचित नहीं है उस प्रकार की आचरण करते सोचते कि ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा तो हमारे लिए लाभदायक है यही सबसे बड़ा विचित्र है संसार ये आश्चर्य इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जरा परितर परितर जयंती मतलब हमेशा जो चारों तरफ से मेरे को घेर रखा हमेशा डराता रहता है बस क्योंकि जो वन चला गया अभी शरीर का भी परिणाम हो रहा है अपक्षय हो रहा है दिखाई दे रहा है फिर भी जो है अपनी इच्छा से हम बाहर नहीं पाते हैं कुछ ना कुछ एक दुर्वास नाम जाता है रोग तो है जरा रोग भोग भी आ रहे शत्रु की तरह हमेशा हमारे शरीर को प्रहार करता ही रहता है प्रहरत देते हैं और आयु जो है छेद वाले घरे में हुए रखा हुआ पानी की समर ये ध्यान रखना हमेशा हमेशा वहां से पानी की आयु कम होता जा रहा है बढ़ता नहीं बस कुछ ही दिन बचाए संसार में रहने के थोड़ी देर के लिए अब रहना है जितना समय बचा है उतना दिन कम से कम जो है भगवान के नाम करके इतना दिखाई देने पर भी इतना होने पर भी लोग तथापि अहित आचरण फिर भी लोग जो है कि अन्याय आचरण करते रहते अपने कल्याण के लिए भगवान की चिंतन कर ये नहीं सोचते कैसे भोग को वस्तु और मिल जाएगा उसी में मन लगा रहते अथवा उसमें नहीं लगा रहेगा फिर भी सांसारिक विषय में जितना है उसको कैसे रक्षा हो जाएगा ये हो जाएगा ये हानि होगा वो हानि होगा यही चीज उनका अरे हानि उसका होना ही है उसका परिणति नहीं तो है उसका पोंगो वस्तु का वो तुमको छोड़ना ही होगा चाहे आज या कल जब स्थिति ऐसा है फिर ये अहित आचरण मतलब अपना हित आचरण है कि भगवान के चिंतन के माध्यम से शरीर को मन को बुद्धि को भगवान में लगा करके जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ले चले ताकि जो है फिर जन्म भव रूप से मुक्त हो जाए परंतु इतना देख करके समझ करके भी हमें जो है वो मन में बैठता नहीं है फिर भी मन को मुक्त रह जाता है आगे उसी को समझाने के लिए जो बोल क्या है कि जो हमारे जो है यदि मतलब आपको अनुभव में जो आ रहा है अपने अनुभव को और जो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को मिला करके देख लो आप देख करके ये राजा थे ना इसको मिला करके देख लो देख करके जो समझ में आता है तब उसको ही पालन करो इसलिए बोल रहे हैं भोग भोगा वृत्त बहुविधा स्थैरेव चायं भव तत्कस्य इह कृते परिभ्रमतरे लोकाकृतं चेष्टितै आशापाश शतोपशान्ति विशदं चेता समाधीयतां कामोत्पत्तिवशात् सदा मनीजति श्रेयमस्मद्वच श्रद्धेयमस्मद्वच भोगा भङ्गुरवृत्तयो बहुविधा स्थैरेव चायं भव तत्कस्यैह कृते परिभ्रमतरे लोकाकृतं चेष्टितै आशा पाश शतोपशान्तिविशदं चेतः समाधीयताम् कामोत्पत्ति सधाम निजति श्रद्धेयमस्मद्वच यदि तुम अपने कल्याण चाहते हो कि विभिन्न अनेक प्रकार की भोग समूह के जो स्वभाव तुमने देख लिया क्या देख लिया और जो विषय बहुविध होगा भंगुर वृत्त उसका जो वृत्तीय नाशवान है आज है कल नहीं रहेगा वो अभी है थोड़ी देर में नहीं जाएगा इसलिए भोग की स्वभाव ही ऐसा है और संसार शरीर धारण रूप संसार प्राप्ति उसको बार बार कराता है आप हो करने की इच्छा है और वो कभी पूर्ति नहीं होती परंतु वही इच्छा हमको दोबारा संसार को प्राप्त में हेतु बन जाता है इसलिए हे मनुष्यगण इस संसार में किस सीमित सुख लेकर के तुम परिभ्रमण कर रहे हो करना क्या चाहिए था कि भोग के लिए जो चेष्टा करते हो ना और सारा चेष्टा को अभी बंद कर दो बहुत हो गया बस जितना शरीर की सामर्थ्य रह गया ये सामर्थ्य को भगवत प्राप्ति में लगाओ भगवत प्राप्ति में लगाओ यदि तुम हमारा उस बात को विश्वास करते विश्व काम उपत्ति वसात आश पाश शतोपशदम चेत सधामनी समाधि यदि तुम्हारा अभी कुछ आशा बचा हुआ है वो उसको बाहरी वस्तु से उठा करके भगवान के प्राप्ति में आशा लगाओ मन को शांत करके भगवान के सहित प्रीति के साथ भगवान को मन को वहां पे लगाओ सांसारिक वस्तु से प्रीति को उठाओ यदि हमारी कथन और तुम्हारी अनुभव मिलता है तो इतना ही अभी कर सकते हो जितना समय बीत गया तो कुछ नहीं करेंगे इतना ही काम कर सकते हैं कि जितना हमारे आशा बचा हुआ है उस आशा को भगवत प्राप्ति की उम्मीद में लगा दिया जाए चित्त को उसमें में किया दिया जाए यदि तुम्हारी ये हमारी मतलब जो मैं कह रहा हूँ अंतकाल बोल रहे हैं भोग की अस्थिरता के बारे में जो तुमको कहा यदि तुमको समझ आ जाता है तो तुम किसी को जितना समय बचा हुआ है और जितना इच्छा बची हुई है उन सभी इच्छा को एक मुखी करके भगवत प्राप्ति की इच्छा में बदल दो तब जाकर के सुख संतान मिलेगा अनेक प्रकार भोग समूह की जो टूटना भंगुर स्वभाव थोड़ा देर रहता है थोड़ा नहीं रहता उसके संसार उसी के कारण से बार बार इस संसार में आपको आना पड़ रहा है ये भी समझ में आ रहा है इसलिए ये मनुष्य तुम तो विचारशील जीव इस संसार में किस लिए बार बार आ रहे हो दुख दुख अनुभव तो दुखित अनुभव हो रहे क्यों मन नहीं बोल रहा है कि संसार से भगवान कैसे पीछा छूटे इस प्रकार से भोग की इच्छा जो अब व्यर्थ होकर के दुख में परिणत करा देते हैं यदि इस जो हमने अभी तक कथन कर गाया इसके ऊपर तुम्हारा थोड़ा भी विश्वास हुआ तो एक काम करो कि सारा जो जितना शरीर अभी प्रयास कर सकता है वो सारा प्रयास को लगा करके मन को भगवत मुखी करो मन को भगवत मुखी करो नहीं तो कुछ कुछ भी अन्न इच्छा बन जाएगा फिर जो उसी इच्छा को लेकर के आना पड़ेगा उसी इच्छा को लेकर के आना पड़ेगा इस प्रकार से जितना समय बचा हुआ है ये ग्रंथ पढ़ने का बार बार वेदांत दर्शन का अभिप्राय यही है कि जो है संसार से मन को उठा करके बस भगवान ही एकमात्र संसार में सत्य वस्तु है जो भगवान करेंगे बाकी जीवन जैसे रखना है भगवान रखेंगे वैसे ही रहना है तो भगवत चिंतन नहीं मन को लगाना है और भगवत चिंतन में सबसे अच्छा चिंतन है भगवान सर्व सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वशक्तिमान बस मैं मेरा वही स्वरूप है ये जो अल्प अल्पत्र अल्प शक्ति माने उपाधि में है और जो सर्वत्र सर्वत्र शक्ति की क्या वहां पर तो आवश्यकता है सर्वत्र और सर्वज्ञ सर्वज्ञ मतलब आप कुछ जानने जो नहीं है संसार भगवान को जानने से ही सबको जाना जाता है इस बात को लेकर के मैं एक असंग शुद्ध व्यापक रूप में हर वस्तु में ही विद्यमान इस प्रकार भावना को मन में रखने पर धीरे धीरे संसार से मन उड़ जाता है ठीक है आज यहीं पे रखते हैं फिर जो है देखेंगे कल ओम पूर्ण पूर्णमिद पूर्णात पूर्ण पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण